I'm sure आप सबका इंटरेस्ट होगा उस टॉपिक में that is how to start a business with zero investment कैसा लग रहा है अब इसको थोड़ा सा आ, पहले डिफाइन कर लेते हैं टॉपिक को क्योंकि जीरो इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं होता है क्योंकि आप कुछ भी करोगे तो वहां पे एटलीस्ट टाइम तो इन्वेस्ट होगा ही होगा yes, तो टाइम की तो अपनी वैल्यू है ही प्लस आप यहां पर भी आए तो सिर्फ टाइम इन्वेस्ट नहीं हुआ थोड़ा बहुत तो पैसा भी इन्वेस्ट हुआ है yes, तो इसको पहले डिफाइन कर देते हैं जीरो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या मे बी से दस बीस हजार रुपए इतना तो ठीक है इतना तो हम अफोर्ड कर सकते हैं सब लोग एक काम करने के लिए अपने फ्यूचर के लिए अपने करियर के लिए ठीक है तो अगर दस बीस हजार रुपए के अंदर अंदर हमको कुछ करना है जो शुरू छोटे लेवल से होगा ऑब्वियसली क्योंकि हम ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे लेकिन उसको बड़ा बनाना है तो वो कैसे होगा ये आज के सेशन का हमारा टॉपिक है सुनने में ये ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगेगा क्योंकि दस बीस हजार रुपए क्या होता है बिजनेस सिखाने के नाम पे लोग आपसे ले लेते हैं बीस तीस हजार रुपए तो एक मिनट माइक देना था बताओ बताओ औरों को भी इंस्पिरेशन मिलेगी आपकी इस बात से सर मैंने सोचा था कि कुछ बिजनेस से रिलेटेड कुछ सीखूंगा क्योंकि मेरा जॉब में पहले से इंटरेस्ट नहीं था कि करना तो बिजनेस ही है बट बिल्कुल मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी कॉलेज से बिल्कुल नील रही तो कुछ नहीं सीखा मैंने मतलब कॉलेज से लगभग मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने तीन लाख रुपए वेस्ट कर दिए वही मैं कहीं और लगाता खुद से कुछ सीख के YouTube वगैरह से सीख लेता तो बेटर रहता let's go big hand for him क्योंकि सीखने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम औरों की सक्सेस से सीखे फेलियर से भी अगर आप सीख लेते हो तो दैट इज इंटेलिजेंस मतलब इससे हमको क्या समझ आ रहा है इस बात से कि अपने पैसे को बचा के रखो कोई भी उठ करके आ जाए और वो बोले कि हाँ भाई आ, हम आपको ये ये कर देंगे वो कर देंगे ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो उसके बाद में ये हो जाएगा वो हो जाएगा तो उठा करके अपने पैसे उसको मत दो अगर एक्चुअल में आपको बिजनेस में कुछ बड़ा करना है तो बिजनेस में कोई आपको सिखा नहीं सकता है खुद सीखना पड़ता है और जो सीखना चाहता है उसके लिए इतना कुछ है सीखने के लिए जिसकी कोई हद नहीं है वो रोड पे चलते चलते भी सीख सकता है बिजनेस चारों तरफ उसको आइडियाज नजर आएंगे अपॉर्चुनिटीज नजर आएगी अगर आपका माइंडसेट वैसा है तो यानी अगर माइंडसेट बन गया है तो माइंडसेट नहीं बना है तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाओ किसी भी बंदे को कितना भी पैसा दे दो कुछ भी कर लो कुछ नहीं होने वाला तीन लाख रुपए छोटा अमाउंट नहीं बहुत बड़ा अमाउंट है तीन लाख में आप आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेगा आपको समझ आएगा आप दस अलग अलग तरह के बिजनेसेस ट्राई कर सकते थे तो दस में से एक तो चलता समझे मैंने क्या बोला है हाँ तो ऐसे सोचो बजाय किसी को देने के पैसा खुद करो और बात रही सीखने की तो ये इंफॉर्मेशन एज है इस गलत फहमी में मत रहोगे आपको इन्फॉर्मेशन के लिए पे करना पड़ेगा information is available for free that is a beauty of this age that we are living in कितने लोग हैं जो सक्सेसफुल हुए हैं वो अपनी वीडियोस बना रहे हैं बता रहे हैं तो आपके पास में मैंने वैसे अपनी बात करी नहीं थी लेकिन ठीक है जी श्रद्धा है आपकी थोड़ा सा समझना मेरी इस बात को ध्यान से पैसे को बचा करके रखो पैसे का ही तो सारा खेल है पैसे को टाइम को बचाओ अगर एक्चुअल में कुछ करना चाहते हो इन दोनों की इंपॉर्टेंस समझो बिजनेस का दूसरा मतलब है प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन निकालना कोई ना कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए जिसका आप सोल्यूशन निकालो अब एक है आप जा करके आइडियाज ढूंढो यहां से वहां से बहुत बड़ी गलती है ये जो लोग करते हैं मतलब कहीं गए आइडिया सर्च करने लग गए या दोस्तों से पूछने लग गए यार बिजनेस करना चाहता हूँ तू बता दे कोई बढ़िया सी लाइन बता दे अगर लाइन क्या होती है ये बड़ा कॉमन डायलॉग है होता है नहीं सुना है ना मेरे बेटे को अच्छी सी लाइन बता दो अरे सुबह से रात तक लाइन ही तो मारता करता गया जब भी आप कोई बिजनेस करने वाले हो पहले खुद देखो अपने आप को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है क्या आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है सुबह से रात तक जो भी आप करते हो सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक कितनी प्रॉब्लम्स हैं जो आपकी लाइफ में खुद आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो उसका सोल्यूशन आपके लिए निकालना आसान है या ऐसी कोई प्रॉब्लम जिसको आपने खुद कभी फेस किया ही नहीं है और आप सर्वे करो आपको ऐसी प्रॉब्लम मिल भी जाए और आप उसका सोल्यूशन निकाल रहे हो क्या ज्यादा आसान है समझ गए मेरी बात तो करना क्या है अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करना है वहीं से आपको जवाब मिलने लग जाएंगे वहीं से अंदर से एकदम से निकल करके आएगा हो सकता है आपने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया हो जहां पर कुछ गड़बड़ हो रही हो वहां से इंस्पिरेशन आ सकती है हो सकता है घर में कोई छोटा सा काम कराया हो वहां पर कोई प्रॉब्लम आई हो जैसे घर में कीड़े मकोड़े सबके होते हैं मैं आपकी बात नहीं कर रहा कीड़े मकोड़े तो हो सकता है कभी आपने किसी पेस्टिसाइड वाले को बुलाया हो घर में और वहां पर आपका एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा हो उसने कहा कि एक साल के पैसे लेकर के आपसे चला गया उसके बाद में एक दो बार आया उसके बाद अता पता ही नहीं है या फिर उसने काम किया और कुछ हुआ ही नहीं कोई फायदा नहीं हुआ तो क्या ये प्रॉब्लम है या नहीं है क्या आपने खुद फेस करी है या नहीं करी है तो अगर ये आपके घर में प्रॉब्लम है तो और घरों में भी हो सकती है तो आइडिया मिल गया नहीं मिला समझ गए तो अगर आप अपने घर से ही शुरू करो तो कितना आसान है बिजनेस करना नहीं समझे मैंने क्या बोला यह समझ आ गया इसके लिए कौन सी डिग्री चाहिए कौन सा डिप्लोमा चाहिए अभी देखो बात करते करते एक आइडिया आया है रुक जाओ हाथ नीचे रखो पहले देखो कि क्या हो रहा है अभी यहां पर उसकी इंपॉर्टेंस को समझने की कोशिश करो बोलना इंपॉर्टेंट नहीं है समझो बात करते करते कुछ बड़ा मजेदार नजर आ रहा है मुझे आप लोगों को भी मेरे साथ साथ में नजर आ रहा है कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये कितने घर है इंडिया में कितने कीड़े मकोड़े हैं अगेन आपकी बात नहीं हो रही ये प्रॉब्लम है या नहीं है yes, हर एक की प्रॉब्लम है इतनी बड़ी इंडस्ट्री है इतना बड़ा कुछ है अगर उसमें से आपको एक छोटा सा पार्ट भी मिल जाता है इस इंडस्ट्री का तो कितना कमा सकते हो लगाओ दिमाग इसको कहते हैं दिमाग का खुला होना अगर अभी ये बातें आपको समझ आ रही हैं तो अगर सुन करके कह रहे हैं आ हाँ, नहीं, नहीं <laughs> क्या होगा जी इन सबसे तो कुछ नहीं होने वाला <laughs> तो बेकार है अगर दिमाग खुला होगा तो अभी आप देख पाओगे मेरे साथ साथ में इसी में देखें इसी को इसी को करने की कोशिश करें yes, हाँ देखते हैं इसी को आगे बढ़ाते रहते हैं देखते हैं शायद कुछ निकल के आएगा यहां से देखो अभी मैंने बोला घर में आपके ये प्रॉब्लम है आपने पेस्टिसाइड का ट्रीटमेंट कराया अलग अलग लोगों को ट्राई किया एक को ट्राई किया वो आया पैसे वैसे लेकर के भाग गया दूसरा आया उसका काम ही नहीं कर रहा है वो मतलब आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रही तीसरा आया फिर वहां पर मजा नहीं आ रहा है तो चौथी बार आपने क्या कहा भाड़ में गए सारे के सारे मैं तो खुद करूंगा बिजनेस की शुरुआत हो गई या नहीं हुई इतना आसान है बिजनेस करना इसके लिए कौन सा कोर्स चाहिए आपको कौन सा एमबीए चाहिए कौन सी डिग्री चाहिए कौन सा डिप्लोमा चाहिए इसको बिजनेस बोलते हैं इसको धंधा बोलते हैं अब स्टेप बाय स्टेप देखो आपने कहा पहले अपने घर से शुरू करते हैं कि वो बंदा लेता है पांच हजार रुपए जाकर के देखता हूं इसकी मार्केट कहां पर है उसकी कोई ना कोई होलसेल मार्केट होगी जहाँ पे केमिकल्स मिलते हैं जहाँ पे उसके इक्विपमेंट्स मिलते हैं वो सब कितने के होते हैं वो जो इक्विपमेंट्स हैं बहुत महंगे होते हैं क्या नहीं नहीं, आप तो ऐसे बोल रहे हो आपका काम ही यही है <laughs> कोई है यहाँ पे जिसका काम हो ये नहीं सर खटमल मार खटमल मारने का काम है आपका एक मिनट सुनने तो दो यार हाँ क्या जेडीयू के अंदर सर बहुत सारे खटमल है हाँ हाँ तो उसको मारने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन हाँ, मार नहीं पाते हैं खटमल कभी मरा ही नहीं खटमल मरा ही नहीं खटमल अमर है तो अब उसको कैसे मारा जाएगा यही आपकी लाइफ का गोल हो जाएगा भाई खटमल मारने हैं बुरा नहीं है आइडिया देखो ऐसे ही हम हंसते हैं लेकिन और मजे की बात बताऊं जब भी आप कुछ करोगे ना अपने बेस पे इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना कि दुनिया हंसेगी तो अब आपने अपने घर से शुरू किया अब इसमें आपको जा क्या रहा है जो टाइम जा रहा है क्या वो टाइम वेस्ट हो रहा है या यूटिलाइज हो रहा है कुछ ना कुछ तो सीखने को मिल रहा है मैं कह रहा हूं जो भी कर रहे हो वो आप साथ साथ में कर रहे हो कुछ भी छोड़ नहीं रहे हो कोई ना कोई एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो कर रहे हो कॉलेज में कुछ पढ़ाई कर रहे हो कर रहे हो एकदम से छोड़ नहीं दिया है छोड़ने की जरूरत है इसमें समझे अब आप क्या कर रहे हो सीख रहे हो बिजनेस करना सीखते कैसे है ऐसे ही सीखते हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूं मतलब प्रैक्टिकली धक्के खाने पड़ते हैं ना और ये एक्चुअल में इतना इंटरेस्टिंग है जिसकी कोई हद नहीं है मतलब आपने क्या कहा मैं अपने घर की प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालूंगा चलो कितना लेता है वो बंदा मान लो पांच हजार रुपए लेता है साल का तो अगर मैं ये जो भी वो मशीन होती है और होती है वो ले लू एक वो मास्क ले लू तो आपने पूरी किट बनाई अपनी और आपने वो पूरी किट देखी कि पांच हजार रुपए में बन रही है तो आपका बिजनेस क्या जीरो इन्वेस्टमेंट में शुरू नहीं हो गया yes, लगाओ थोड़ी सी बुद्धि अंकल आंटी और नहीं आंटी नहीं अंकल हाँ पांच हजार रुपए आपने उनको भी देना ही था आपके माँ बाप ने वो उनको ना देकर के आपको दे दिया आपका क्या गया कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं जीरो इन्वेस्टमेंट और अगर अपने घर की प्रॉब्लम आपने अच्छे से सॉल्व कर दी और वही काम वो लोग जो पांच हजार में कर रहे हैं वो आपने तीन हजार में करना शुरू कर दिया या ढाई हजार में करना शुरू कर दिया अपनी सोसाइटी में अपनी लोकेलिटी में यहां पर वहां पर तो क्या मुश्किल है इसमें लगाओ दिमाग थोड़े से पैम्पलेट्स बनवाए इनोग्रल डिस्काउंट वट इंडिया में डिस्काउंट का बड़ा शौक है लोगों को कि पांच हजार रुपए का है लेकिन अगर अगले एक हफ्ते के अंदर आप कराते हो तो पचास परसेंट डिस्काउंट है आपका ढाई हजार रुपए में हो जाएगा एक साल का पूरा का पूरा आपने अपनी कॉस्ट कैलकुलेट करी हुई है मान लो ओरिजिनल दवाई हजार रुपए की आती है और जो डुप्लीकेट है या कोई ऐसी है जो काम नहीं करती है वो मान लो दो सौ रुपए की आती है तो और लोग हो सकता है दो सौ रुपए लगा रहे हो आपने कहा मैं हजार रुपए की लगाऊंगा ढाई हजार रुपए लूंगा तो डेढ़ हजार का मार्जिन नहीं हो गया आपका डेढ़ डेढ़ हजार रुपए करके अगर दस घर भी आपने एक महीने में करे तो क्या पंद्रह हजार रुपए कमा नहीं लिए पंद्रह हजार रुपए कम होते हैं क्या अपने बेस पे जिस दिन पंद्रह हजार कमा लोगे ना मेरी इस बात को याद रखना वो कहावत सुनिए शेर के मुंह खून लगने वाली है अब आप कुछ और नहीं कर सकते आप बिजनेसमैन बन चुके हो जी ऐसे ही बिजनेसमैन बनते हैं एक्चुअल में जिस दिन आपने दस पंद्रह हजार रुपए अपने बेस पर कमा लिए और आपके घर वालों को भी नजर आ रहा होगा अगला दिमाग उनका भी और आपका भी ये चलने लग जाएगा कि अब इसको दस पंद्रह हजार को बीस हजार कैसे किया जाए तीस हजार कैसे किया जाए पचास हजार कैसे किया जाए एक लाख कैसे किया जाए क्योंकि अपर लिमिट तो कोई है ही नहीं करोड़ों घर है इंडिया में उन सबको अगर टैप करना हो और धीरे धीरे फिर आप क्या लोग अपने साथ में ऐड नहीं कर सकते अनएम्प्लॉयमेंट की कमी है हमारे देश में तो क्या आप अच्छा काम कर रहे हो या गलत काम कर रहे हो क्योंकि आप एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहे हो कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हो आगे अपनी टीम बढ़ाते चले जा रहे हो एड्स अपनी बढ़ाते चले जा रहे हो क्या मुश्किल है इसमें कुछ भी नहीं जी किसी को अपने घर में ऐसा कुछ कराना है उसने एक दो से कराया और वो सेटिस्फाइड नहीं है अब उसको और ढूंढना है तो वो कहां से ढूंढेगा गूगल पे सर्च करेगा तो अगर वो गूगल पे सर्च करे पेस्ट कंट्रोल क्या बोलते हैं एजेंसी इन कोई लोकेलिटी है आपकी जहां पर आप रहते हो मान लो लक्ष्मी नगर या उसका कोई भी सराउंडिंग एरिया डाला मान लो पड़पड़गंज आप लक्ष्मी नगर में हो लेकिन वो पड़पड़गंज डाल रहा है तब आपकी एड आ रही है ये बात समझ आई मैंने क्या बोला है yes, हाँ तो अलग अलग सर्च के लिए आपने अलग अलग एड चला रखी है क्योंकि दोनों आसपास ही है ना दोनों ईस्ट दिल्ली में है तो वहां पर कोई भी कुछ भी सर्च कर रहा है तो आपकी एड वहां पर नजर आ रही है जब एड आएगी तो कोई ना कोई तो कॉल करेगा कम ज्यादा हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी एड कितनी अच्छी है एड में ही आपने क्या करा वहीं पर अपना नंबर दे दिया ये call for a free trial ये और कोई नहीं कर रहा होगा ये आपके पास एडवांटेज होता है जैसे आप एक लाइन में एंटर करते हो क्योंकि जो उस लाइन में एस्टैब्लिश हो चुके हैं वो कमाने के बारे में सोच रहे होते हैं आप अभी कमाने के बारे में नहीं सोच रहे हो आप कस्टमर्स एक्वायर करने के बारे में सोच रहे हो तो आप कुछ ऐसा कर सकते हो जो वो नहीं कर सकते आप अपने ऊपर रख करके देखो आपने सर्च किया और आपको वहां पर दस एड्स नजर आई लेकिन उन सब एड में क्या लिखा हुआ था कि calls this this this this ये वो या फिर सिर्फ पांच हजार रुपए में या चार हजार रुपए में एकदम से वहां पर आपको एक एड नजर आई calls for a free trial किसको कॉल करोगे ऐसे सोचा जाता है और फ्री ट्रायल के लिए उन्होंने कॉल किया और आपने क्या किया एक वहां पर छोटे से एरिया में पूरे घर में नहीं फ्री ट्रायल आपने यही तो बोला था ये थोड़ी बोला था पूरे घर का कर देंगे उनकी रसोई में जो भी उनकी प्रॉब्लम आ रही है मान लो कॉकरोच की प्रॉब्लम आ रही है तो उससे रिलेटेड आपने उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया और आपने बोला कि आप इसको देख लो दो चार पांच दिन सात दिन अगर आप सेटिस्फाइड हो तो हमको कॉल कर देना और लोग आपसे पांच हजार रुपए लेते हैं हम तीन हजार रुपए लेते हैं क्या ढाई हजार लेते पहले साल में उसके बाद से हम भी पांच हजार लेंगे गलत क्या है भाई कमाने के लिए काम कर रहे हो चैरिटी थोड़ी कर रहे हो लेकिन कुछ गलत नहीं कर रहे आपकी इंटेंशन सही है तो जब इंटेंशन सही होगी तो वो लोग अगले साल भी आपसे ही रिन्यू कराएंगे अगर शॉर्ट टर्म विजन होगी नियत खराब होगी तो बंदे आ तो जाएंगे जितनी तेजी से आएंगे उतनी तेजी से चले भी जाएंगे उसमें मजा नहीं आएगा मजा आता है कि वो जिंदगी भर के लिए आपके साथ में जुड़ जाए चाहे आपके कस्टमर्स हैं चाहे वो लोग जो आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं अगर वो दिल से जिंदगी भर के लिए आपके साथ में जुड़ जाए तो आपको आगे बढ़ने से कौन रोकेगा और किसके साथ में लोग दिल से जुड़ते हैं जो ईमानदार होता है एज सिंपल एज दैट ईमानदारी का मतलब क्या जो फेयर होता है अगर वो कस्टमर के साथ भी फेयर है कि जितने का मैं पैसा ले रहा हूं उतने की वैल्यू दे रहा हूं इंप्लॉइज के साथ भी फेयर है कि जितना आप काम कर रहे हो उतना आपको पैसा मिल रहा है टाइम पे मिल रहा है कुछ भी गलत नहीं हो रहा है तो बन गए बिजनेसमैन हो गया ना आपका दस मिनट में एमबीए खत्म मैं इनसे एक बार बात करूंगा आ, आ, वो किसने बोला था एमबीए वाला हाँ एक बार माइक देना इनको सच सच बताना मतलब इसलिए नहीं कि मैं पूछ रहा हूँ हाँ, सच सच बताना कि अभी हमको दस पंद्रह मिनट हुए हैं सेशन को हाँ। तो कुछ सीखा आपने सर बहुत कुछ सीखा है बहुत कुछ सीखा है मतलब कि हाँ मतलब जो अपना सबसे पहले तो मैंने सीखा कि टाइम और जो आपने पैसा बताया वही मैं तीन साल दो साल मेरे वेस्ट हो गए दो साल में मैं तीन लाख रूपये से स्टार्ट करता तो मैं कहाँ होता अभी तो अभी जो हमने बात करी उससे आपको क्लैरिटी आई है ना क्लैरिटी तो हाँ, अब सोचो अगर इसको प्रैक्टिकली भी कर लो तो, तो कितनी क्लैरिटी आ जाएगी और जरूरी नहीं है सबको खटमली मारने हैं जाके सारे मशीन दे करके निकल जाए मरवा लो सर एक मेरे पास मतलब थोड़ा सा आइडिया भी था बट मैं उस पर अभी तक वर्क नहीं कर पाया हाँ. मैं और मेरा एक दोस्त है हम जा रहे थे बाइक से तो हमने साइड में बाइक लगा दी तो ट्रैफिक वाले हमारी बाइक उठा के ले गए ऐसे ही दो तीन बार हो गया हमारे साथ तो उस दिन मेरे को मतलब एक बार लगा कि यार एक ना जैसे रूम वगैरह के लिए ऐप है तो पार्किंग के लिए भी एक ऐप होना चाहिए फोन के अंदर ताकि जैसे हम नियर बाय जाए हमें ऐप से क्लिक करें कि नियर बाय पार्किंग कौन सी है जो ऑथोराइज है हाँ। तो हम अपने पार्क कर दे वहां पे अब देखो ये आइडिया अच्छा है लेकिन इसको ध्यान से समझना इस आइडिया का बेस क्या है ऐप बनाना अपने आप में you need a big investment फिर ऐप की मार्केटिंग आप समझिए वहां पर आप जाकर के फंसते चले जाओगे तो कोशिश करो बिजनेस को सिंपल रखो बेसिक लेवल से शुरू करो जैसे अभी पेस्ट कंट्रोल वाली हमने बात करी जैसे जैसे आपके कस्टमर्स एग्जिस्टिंग एक बेस बनता चला जाएगा हाँ। तो क्या इसकी आप ऐप नहीं बना सकते नहीं इसकी भी बना सकते आप ध्यान से समझना अभी मैंने क्या बोला है एक तरीका है कि हम पहले ऐप बनाए फिर काम को शुरू करें मतलब ऐप से पैसा कमाए then that becomes a very complicated business model एक है पहले हमने पैसा कमा लिया मान लो आपके हजार कस्टमर्स हो गए अब आपने ऐप में दो या तीन लाख रुपए इन्वेस्ट किया क्यों बनाई ऐप ताकि कस्टमर्स को पता हो कि अब आपकी नेक्स्ट डेट ये है तो वो सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा पहले बिजनेस करो पैसा कमा लो फिर उस पैसे में से कुछ पैसा ऐप बनाने में लगा दो हाँ आपके पास कोई इन्वेस्टर है वो पांच दस करोड़ रुपए लगा रहा है और फिर आप एक ऐप बना रहे हो उसके बाद भी बहुत सारी नहीं चलती है और आपकी जेब में है दो लाख रुपए आपने ऐप बना दी अब उसकी मार्केटिंग के लिए चाहिए बीस लाख रुपए कहां से लाओगे तो काम हमेशा ऐसा करो स्पेशली शुरू में जो जीरो इन्वेस्टमेंट का हो जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको zero investment zero risk zero tension zero stress क्या गया कुछ भी नहीं और कुछ नहीं तो घर का तो काम <laughs> हो ही जाएगा मां तो आकर के शबाशी दे देगी शाबाश मेरे बेटे तूने बड़ा अच्छा काम किया हाँ उनको देना माइक जरा सर मैं महाराष्ट्र के लातूर में रहता हूँ तो हमारा क्या है लातूर में एक ट्यूशन एरिया है वहाँ लगभग साठ हज़ार के आसपास बच्चे पढ़ने के लिए है तो मैं उनके लिए एक लॉन्ड्री सर्विस देने जा रहा हूँ सर अभी जब जो लॉन्ड्री वाले है वो कपड़े वापस लौटाने में दो तीन दिन लगा दिए इसलिए स्टूडेंट्स के लिए वो कम्फर्टेबल नहीं है सर तो हमने एक दिन में जो ट्वेंटी फोर आवर्स में कपड़े लौटाने के ऐसे प्लानिंग किए हम स्टूडेंट्स से कपड़े कलेक्ट करेंगे टैगिंग करेंगे और जिनकी मशीन से वहाँ उन्हें यूज करेंगे हमें हम और आयरनिंग uh, करके लौटा देंगे there is a strong possibility ये जो बिजनेस आपका मॉडल है ये फेल हो सकता है इसको नेगेटिवली मत देखना क्यों सर पॉजिटिवली समझना क्यों क्योंकि आप किसी और पर डिपेंड होने वाले हो जब वो पहले या और अपने जो खुद के कस्टमर्स हैं उनको दो तीन दिन में दे रहे हैं तो आपके कस्टमर्स को जल्दी क्यों देंगे आप तो उनके थ्रू हो गए ना बीच में आप भी तो पैसा कमाओगे अगर वो डायरेक्ट दे रहे हैं किसी को उसमें वो ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं अगर उन्हीं को दो तीन दिन में दे रहे हैं तो आपको तो चार दिन में देंगे तो यहाँ पर क्या चाहिए आपको अपनी मशीन चाहिए शुरू में ज़्यादा नहीं चाहिए एक भी हो तो चलेगी इंडस्ट्रियल वॉशिंग मशीन लगभग वन लाख तक जाती है हाँ तो अभी आप शुरू में वाली मशीन मत लो सस्ती मशीन ले लो क्योंकि एकदम से आपके पास में बहुत सारे कस्टमर थोड़ी आने वाले हैं एक और ट्रैप समझो बिजनेस में बहुत बड़ा ट्रैप है हम एकदम से ही कुछ बड़ा करना चाहते हैं एक लाख की मशीन की जरूरत नहीं है क्योंकि शुरू में आपके पास में एकदम से बहुत सारे लोग नहीं आएंगे वो आने में ही कुछ महीने लगेंगे हो सकता है एक साल भी लग जाए तो शुरू में काम कम आएगा तो जब कम आएगा तो उसके लिए दस दस हजार की दो मशीन भी होगी तब भी चल जाएगी इसमें यह चाहिए कि आपको यह हो कि यार मैं किसी बंदे से लिया सुबह लिया शाम तक दे दूंगा same day delivery same day अगर वो दो तीन दिन में दे रहे हैं अगर आप सेम डे दे पाओ तब तो काम बढ़ेगा आगे अगर आपने भी दो तीन दिन में दिया तो फिर क्या है तो उसमें आपको अगर उन्होंने दस परसेंट दे भी दिया तो उस दस परसेंट में क्या कमाओगे क्या खाओगे अगर मैं आपकी जगह हूँगा तो मैं क्या करूंगा मैं इसको ऐसे रखता हूँ क्योंकि I am nobody do से आप ये करो अगर मैं आपकी जगह हूँगा तो मैं क्या करूंगा आइडिया अच्छा है प्रॉब्लम बड़ी है नीड हाँ। है मैं क्या करूंगा वॉशिंग मशीन लूंगा शुरू में एक सस्ती से सस्ती मान लो आठ दस हजार रुपए की आ जाती है इतने की वॉशिंग मशीन है ना हाँ सेकेंड हैंड ले लो इवन बेटर तो वो मैंने ले ली एक एक वॉशिंग मशीन सिर्फ एक से शुरू करूंगा फिर देखूंगा काम कैसे बढ़ रहा है या बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है ताकि अगर वर्ष के सिनेरियो में अगर काम ना भी चले तो वॉशिंग मशीन मेरे घर में तो काम आई जाएगी घर में ले आके पैक करके गिफ्ट कर दूंगा लो जी आपके लिए मेरी तरफ तो सर्वे करने की ज्यादा जरूरत है कि नहीं सर्वे क्या करोगे इसमें मतलब ये प्रॉब्लम आपने खुद ने फेस करी है नहीं करी हाँ, है हाँ तो कपड़े खुद अगर आप धोते हो तो उसकी कॉस्ट आप लगा लो कितनी कॉस्ट आती है अगर उसके आसपास में आप देते हो तो लोग कराएंगे आपसे अगर अभी दस रुपये ऑलरेडी वो दे रहे हैं एक कपड़े का एवरेज होगा किसी का पांच रुपए दस रुपए पंद्रह रुपए बीस रुपए पर मान लो दस रुपए दे रहे हैं एक कपड़े का ऑन एन एवरेज तो वही काम अगर आप पांच रुपए में कर पाओ शुरू में या पांच छोड़ो छह सात में भी कर पाओ और सेम डे डिलीवरी दे पाओ और प्लस आपके मार्जिन भी हो क्योंकि अब आप खुद कर रहे हो हाँ, किसी और से कराओगे तो वो मार्जिन क्या खाक लेने देगा आपको तो कहेगा भाई दस रुपए में से दो रुपए तेरे को दे दूंगा अब आप भी दस में दे रहे हो वो भी दस में दे रहे हो ऊपर से डिलीवरी में आप ज़्यादा उसके सर पे चढ़ोगे कि भाई मुझे तो आज ही चाहिए वो कहेगा ले जाओ उठा करके अपने कपड़े समझ गया ना प्रॉब्लम हाँ। तो ये मैं आपको लॉजिकली समझा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप इसका क्या तरीका है कि छोटी सी जगह ली वहां से शुरू किया जैसे जैसे काम बढ़ा मशीन बढ़ाते चले गए एक लाख की एक मशीन लेने की क्या जरूरत है दस दस हजार की चार मशीनें लगा दी बाद में एक बंदे को अपने साथ में और जोड़ लिया एक आध किसी दोस्त को ठीक है ना और उसको भी पैसे देने की जरूरत नहीं है नॉट ऑन सैलरी बेसिस उसको बोला कि भाई मेरा ये काम चल रहा है बढ़ रहा है आ जा साथ मिलके करते हैं इतना परसेंट तेरा इतना परसेंट मेरा तो जब कमाई होगी तो उसमें से उसको देना है तू भी तो खाली बैठा है क्या कर रहा है आजा मेरे साथ ही आजा कपड़े धोएंगे मिल करके <laughs> और आइडिया है किसी के पास में हाँ इनको देना माइक हाँ सर मेरा कैटरिंग का बिजनेस है सर फ्लो में नहीं इतना ऑर्डर्स नहीं आते आपका फैमिली बिजनेस है ये केटरिंग का सर नहीं खुद स्टार्ट किया है मैंने वन ईयर कोर्स किया होटल मैनेजमेंट का अच्छा मेरे फादर सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा सर क्यों नहीं हो पा रहा आप खुद बताओ क्योंकि और भी बहुत लोग कर रहे हैं सर और भी बहुत लोग कर रहे हैं कॉम्पिटिशन है कॉम्पिटिशन है अभी तो, तो इसका क्या इलाज है आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो और कोई नहीं कर रहा है मैंने लास्ट ईयर नवंबर में स्टार्ट किया था अभी तक नवंबर से मैंने दो, ऑर्डर्स करे हैं अभी तक अभी जून आ गया आज सिर्फ दो हो पाए हैं पूरे एफर्ट्स दे रहा हूँ लेकिन रिजल्ट नहीं और क्या उन दो के आगे और रिकमेंडेशन आ रही है सर रिकमेंडेशन नहीं आ रही बस लोग रेट ट्राई करते हैं बस that is what I am सही कि अगर आप कुछ ऐसा करो हाँ जी सर जो और कोई नहीं कर रहा है हाँ जी तब तो ये काम चलेगा अगर वही कर रहे हो जो बाकी सब भी कर रहे हैं हाँ जी तो एज किसके पास में है जिसके पास में ज्यादा एक्सपीरियंस है यस सर क्योंकि लोग कहेंगे भैया वो दस साल से कर रहा है हाँ ये दस अलग अलग लोग हैं हम जानते हैं वहाँ पे उसने किया हुआ है yes, कि हमारे मिलने वालों के यहाँ पे उसने किया हुआ है और सारा अच्छे से किया था हाँ तो मैं उसको दूंगा या आपको दूंगा मैं भी होऊंगा तो मैं उन्हीं को दूंगा यस सर तो फिर आपको कैसे मिलेगा केटरिंग किस तरह की करते हो वेडिंग में करते हो कहा ऑल टाइप्स ऑफ केटरिंग्स नहीं नहीं ऑल टाइप्स तो आप बोल रहे मतलब अभी तक जो दो आपने करी वो किस में करी सर मैंने पहली माता की चौकी में की थी और दूसरी गुड़चड़ी में की थी ठीक है so I am further planning to go for a bakery course so तो फिर उसके बाद अपना कुछ मतलब थोड़ा उसमें केक वेक्स में पूरी नॉलेज लेने का अगर इन दोनों बिजनेस को मिला दे तो इन अदर वर्ड्स केटरिंग अभी आप केटरिंग कर रहे हो माता की चौकी के लिए yes, और घुड़चड़ी के लिए yes, यहाँ पर करने वाले पहले ही बहुत बैठे हैं बहुत बैठे अभी जो आपकी एज है yes, वो आप यंग हो 20 yes, से 22 के बीच में यस सर तो कुछ ऐसा करो जो वो लोग नहीं कर सकते जो 40-50 साल के हैं और फैले पड़े हैं चारों तरफ से yes, और बैठे हैं हाँ बेटा चलो चल ऐसे होते हैं ज्यादातर केटरिंग वाले yes, sir, yes, है ना टिपिकली हाँ बेटा अरे तेरे मारा तेरे हाँ, ज्यादा मत सोचो मैं गाली वाली नहीं दी मारूंगा तेरे कान पे कान पे हाँ, लौंडे है कुछ नहीं सोच सकते तो आप क्या कर सकते हो जो वो लोग नहीं कर सकते करने का सोच भी नहीं सकते बच्चों की बर्थडे पार्टी उसमें केक से लेकर के डेकोरेशन से लेकर के केटरिंग से लेकर के वेन्यू बुक कराने से लेकर के सब कुछ yes, वो आप हैंडल करो बिजनेस में फोकस चाहिए yes, गड़बड़ क्या होती है जब हम एक काम को शुरू करते हैं पहले डिफाइन नहीं करते अपनी बाउंड्रीज को जो भी काम आता है जैसा भी काम आता है हाँ मैं कर दूंगा अब फंस जाते हैं समझ गए बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए हाँ बोलना इंपॉर्टेंट नहीं है ना बोलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बर्थडे कराना है बर्थडे कहाँ कराएंगे या तो घर पे कराएंगे yes, या कहीं बाहर कराएंगे yes, किसी रेस्टोरेंट में कराएंगे यहाँ पे वहां पे कहीं पे रेस्टोरेंट में जाके आपको टाइप करना है चाहिए क्या एक विजिटिंग कार्ड चाहिए yes, कार्ड बढ़िया होना बहुत जरूरी है क्योंकि card is your first impression यहाँ पे हम बहुत बड़ी गड़बड़ करते हैं कार्ड में पैसा बचा लेते हैं ये कुछ बेसिक सी चीजें बता रहा हूँ आप लोगों को हाँ क्योंकि आपके बिजनेस में कोई लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं है हाँ सिर्फ विजिटिंग कार्ड की है तो ऐसा कार्ड बनवाओ ना जो और कोई नहीं बनवाता बीस रुपए का कार्ड इंटू अगर आप पचास भी करते हो तो कितना पैसा लगा हजार रुपए तो लगा हाँ जी सर तो ऐसा कार्ड बनवाओ ना कि जो देखे उसकी आंखें फट जाए और हाँ वहां पे जाकर के इन सारे रेस्टोरेंट्स जहां पर भी इस तरह की पार्टीज होती है छोटी गैदरिंग बड़ी गैदरिंग बैंक हॉल वहां पर टाइप कर लिया आपने क्या बोला है कि हमारे पास में हम बहुत सारी पार्टीज करते रहते हैं हम सिर्फ बर्थडे की करते हैं सिर्फ बर्थडे हम और कोई नहीं करते हम ये शादीशुदी की नहीं करते ये नहीं मोनी वो सब नहीं करते हम हम बर्थडे के स्पेशलिस्ट हैं बर्थडे में भी थीम पार्टीज होती है या थीम पार्टी ये थीम वो थीम लड़की yes, है तो पिंक का थीम लड़का है तो ब्लू का थीम yes, ये वट एवर अब थीम पार्टीज भी लोग कर तो रहे हैं लेकिन आप शुरू कर रहे हो तो आप सस्ते में कर सकते हो yes, ये आपका एडवांटेज आ गया yes, कि वो पार्टी जो सामने वाला बंदा करने के दो लाख रुपए ले रहा है टोटल वो काम आप एक लाख में कर सकते हो ठीक है हाँ तो अब आपने सारे ऑप्शन अपने क्लाइंट को दे दिए अब अगर उसने चूज किया कि मेरे को तो इसी बैंकेट में करनी है तो वहां पे वो आपकी केटरिंग अलाउ नहीं करेगा मान लिया तो केटरिंग उसकी हो गई yes, आपकी हो गई yes, केक आपकी हो गई yes, मैनेजमेंट पूरा आपका हो गया प्लस हाँ जब उसको आप बिजनेस दे रहे हो हाँ जिस बैंकेट हॉल को तो आपको कमीशन तो देगा नहीं देगा सर देगा जरूर शुरू में आपने क्या किया अपनी फैमिली में यहाँ पे वहां पे क्योंकि शुरू में हो सकता है एकदम से आपको काम ना मिले तो पहले आपको काम दिखाना पड़ेगा हाँ तो फैमिली में कोई ना कोई बच्चा होगा यस सर उसका फ्री में कर दो फ्री मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट कर दो या कॉस्ट टू कॉस्ट क्या प्रॉब्लम है कोई प्रॉब्लम लग रही है no, वहां से आपके पास में फोटोग्राफ्स आ गई yes, मतलब एक एक लड़की बच्चे का एक लड़का बच्चे का yes, ये सही बोला मैंने गर्ल और बॉय भी तो बोल सकता था चलो कोई नहीं चलता है एक लड़की का और एक लड़के का yes, हाँ दोनों का आपने बर्थडे कर दिया अब यहाँ से आपके पास में आ गया गर्ल्स की ऐसी थीम होती है बॉयज की वहां पर फोटोग्राफी बढ़िया करी हम नहीं करते <laughs> हाँ, आपसे हाँ। अब देख रहे हो अभी समझा कितनी जल्दी ना बोला मैंने अगर कोई बंदा आएगा ना कि ये मान लो कोई बहुत बड़ा बिलेनियर है वट वो कहेगा कि हमारे बर्थडे पार्टी में या हमारी शादी में आपको फोटोग्राफी करनी है वहां पे पता है कितना पैसा लेते लोग एक शादी का कुछ आइडिया है नहीं है करोड़ों रुपए सर बीस लाख पचास लाख एक करोड़ दो करोड़ ये फोटोग्राफी का बजट होता है कोई अगर मेरे पास में आएगा कि ये हमारी शादी में आपको करना है जी फोटोग्राफी आपका नाम है इमेजेस गुजार ये वो वट आपको करना है आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया आप खुद आओगे हाँ मैं कहूँ भाई तू एक करोड़ छोड़ सौ करोड़ तो क्यों नहीं करता तो नहीं करता समझ गए हाँ। ये हाँ और नहीं बिल्कुल क्लियर होना चाहिए माइंड में yes, इसमें अगर आप डाउट में पड़ गए तो समझ जाओ आप कभी भी लाइफ में कोई बड़ा नहीं कर पाओगे फंस के रह जाओगे माइंड भी कंफ्यूज रहेगा अब ये करूं वो करूं ये वो, वो ये वट एवर अब ये जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस मॉडल है या नहीं है yes, जीरो इन्वेस्टमेंट ये मतलब आपके चाचे ताई में मामा में इधर उधर वो उनको तो इतना तो पता ही है कि आप उनसे तो पैसा खाने वाले हो नहीं हाँ तो बोला कि अब इसका बर्थडे आ ही रहा है मेरे पे छोड़ दो सारा कुछ हाँ मैं करूंगा बोलो मेरे को शौक है मैं करूंगा और बढ़िया से बढ़िया वहां पे आपने चीजों को किया बढ़िया से बढ़िया थीम बढ़िया से बढ़िया फोटोग्राफी मतलब कोई देखे तो उसकी आंखें फट जाए वो कही यार क्या कमाल का काम हो रहा है पहले आपने ऐसे लोगों का काम स्टडी कर लिया हाँ उनको अपने घर बुला लो उनका काम देखा उससे आपको पता लग गया काम का क्या लेवल उनसे रेट भी ले लिया रिसर्च हो रही है फ्री में हो रही है कोई पैसा लग रहा है नो सर अब आप गए आपने दिमाग लगाया कि इस तरह के जो मेरे को सामान चाहिए होता है होलसेल मार्केट कहां पर है सर इस तरह के चीजों की नहीं तो ये जो बर्थडे में जो सामान लगता है अगर वो आप गए किसी बेकरी शॉप से आपने ले लिया या किसी नॉर्मल दुकान से ले लिया वो बहुत महंगा मिलेगा सर sir, वहाँ पे जो चीज़ आपको मिलेगी पाँच सौ रुपये की हो सकता है वो आप कहीं होलसेल मार्केट में जाओ वहाँ पे मिल जाए सौ रुपए की ये सर तो वहाँ पे आपने कॉस्ट कटिंग कर ली समझ गए तो इस तरीके से कॉस्ट कटिंग करके यही बात आपने समझा दी जो भी अपने फैमिली में आप करने वाले हो तो आपको क्लियर पता है कि ये जो एक लाख रुपए का काम है ये मैं बीस हजार रुपए में करने का दम रखता हूँ तो जब मैं ये काम बीस हजार रुपए में कर सकता हूँ तो मैं पचास हजार रुपए में बेच भी सकता हूँ सर तो वहां पे तीस हजार रुपए का मोटा मोटा मेरा मार्जिन है yes. तो मैं मार्केट से आधे रेट में कर रहा हूं काम उसी लेवल का है हाँ मतलब समझ गए अब यहां yes, पे ध्यान से समझने वाली बात यह है कि काम पचास का भी करने वाले लोग होंगे yes, और एक लाख का भी करने वाले होंगे लेकिन आपको काम करना है एक लाख के लेवल का यस सर और लेने <laughs> करना पचास हजार और वो आपको कॉस्ट कितनी आ रही है मान लो बीस हजार रुपए तो तीस हजार रुपए आपका मार्जिन हो हाँ गया स्टार्टिंग में इतना सही है कम नहीं है यार हाँ, बहुत होता है हाँ और अगर तीस तीस हजार रुपए की आपने महीने की दो तीन पार्टीज भी करी हाँ मैं कहता हूँ तीन पार्टीज भी करी तो नब्बे हजार रुपए तो बच रहा है आपको प्लस जो ऊपर से मिल रहा है जहाँ पे आपके टाइप्स हैं हाँ जिस जगह पे आप करवा रहे हो बैंकेट में मान लो एक लाख रुपए वहां पे खर्चा आया तो वहां से बीस परसेंट आपको मिला तो बीस हजार रुपए वो अलग तो करते करते लाख रुपए महीना आप कमा रहे हो तो पंद्रह मिनट के अंदर अंदर आप लाख रुपए महीने पे पहुंच चुके हो <laughs> Thank you all the very best. Thank, you so much.